जलवा दिखा कमली वाले हमें अपना जलवा दिखा कमली वाले वही ना रहे हक सुना कमली वाले वही ना रहे हक सुना कमली वाले खुदा तेरा है और सारी खुदाई सारी खुदाई तेरा हुक्म हुक्म खुदा कमली वाले हमें अपना जलवा दिखा कमली वाले तेरी बंदगी तेरे माँ के सदके हमेरा सीधी दिखा कमली वाले हमें अपना जलवा दिखा कमली वाले गरीबों के मौला यतीमों के वाली यतीमों के वाली मुसीबत से हमको बचा कमली वाले हमें अपना जलवा दिखा कमली वाले बचाया था बेवा को लानत से तूने लानत तूने बचाया था बेवा को लानत से तूने लानत से तूने तेरे ढंग का जीना सिखा कमली वाले हमें अपना जलवा दिखा कमली वाले गुनहगार हैं पर तेरे उम्मती हैं खुदा के गजब से बचा कमली वाले हमें अपना जलवा दिखा कमली वाले वही नारे हक सुना कमली वाले